कृष्ण लोगों को सब आई करके अच्छी तरह से बोलना पड़ेगा ध्यान करके पढ़ेंगे हो गया था इक्कीस में चलेगा पूर्व श्लोकार्थ से एवं उत्तरत्रापि प्रतिभाग रुष्यम आशंक्य पूर्व श्लोक में जो कहा गया श्लोक का जो अर्थ ये अर्थ आगे भी बार होता है तो पौर्ण रुष्यम उचित है जो पहले कहा पुरुष तो ऐसे शंका करने पर वृत्तानुवाद पूर्वकम दुष्ट है अतीत अतीत का कथन करना है अनुवाद कथन दुष्ट का अनुवाद अनुपश्चात वाद बदधात कथन अनुपवाद का पश्चात कथन अतीत में जो आया उसके श्री कहन कह करके अनुवाद शुरू होता है उत्तर श्लोकम अवतारण उत्तर श्लोक अवतरण करते कहते हैं यह एनम व्यक्ति हंतारम पलायन मंत्रेण हनन क्रिया कर्ता कर्म च न भवती थी प्रतिज्ञा है आत्मा हनन क्रिया का कर्ता भी नहीं होगा कर्म भी नहीं होगा एक प्रतिज्ञा हुई प्रतिज्ञा करके आगे न जायते क्या में अभिक्रिय न जायते अभिक्रिय हेतु जो अभिक्रियात्मा कर्ता कर्म क्यों नहीं होता है क्योंकि अभिक्रिय अभिक्रिय कैसे है तो एक एक करके विक्रिया का निषेध करके कोई भी विक्रिया घाव पदार्थ में होने वाली विक्रिया एक भी नहीं है कभी तो के अभिक्रहण से क्या हुआ कर्ता कर्म भी नहीं होगा एक तो मुक्ता प्रतिज्ञा का अर्थम उपसारती जो अर्थ प्रतिज्ञा से पहले कहा गया था उसका उपसार करते हैं उपसार करने के लिए फिर यही अर्थ कहा गया पुनर्वचन उपसार करने के लिए फिर उसको कहा जाता है उपसार से नहीं टीका में अभिधान विरोधा अद्वैत कुटस्थात्म निश्चय सामर्थ्या प्राप्त विदुष संन्यासम विद्यापारितार्थम अभ्यम जाना कर्तृत्वाद अभिमान कर्तृत्वाद अभिमान का अभिमान होता है विरोध अद्वैत कुटस्थ अद्वैत कुटस्थ आत्मनिश्चय सामर्थ्या अद्वैत कुट शासन उसके नित्य हो जाने पर का अभिमान नहीं होता का अभिमान हो तो अद्वैत कुटस्थात्मा निश्चय नहीं होता जब अद्वैत कुटस्थात्मा इसे निश्चय हो जाता है तो उसे सामर्थ्य से प्राप्त होता है विद्युत संन्यासम विद्वान का परोक्ष ज्ञान होगा अभी संन्यास जो समझ लिया से आत्मा और बाकी तो मिथ्या है क्योंकि तो सर्व इतना का त्याग करके सब आश्रम धर्म त्याग करके केवल अद्वैत चिंतन करने के लिए संन्यास वेदांत सर्व महान विकास में इसलिए विद्या परिताकार पहले शब्द श्रवण करते समय कुछ थोड़ा समझ में आता है वो परोक्ष ज्ञान परोक्ष भी जिला होना कठिन है जिंदा हो भी जाए तो भी इतने से नहीं होता उसके परिताग करने के लिए सब त्याग करके केवल उसका ही चिंतन श्रवण मनन में ध्यान करते करते दृढ़ हो जाता है परिपाक उसको कहते हैं और कक्षा प्रकार होते हैं उसके अनुबंध से वेद वेदा विनाशिनम नित्यम वेदा विनाशिनम नित्यम ये नमजमव्ययम ये नमजमव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कथम कम धापयती कम धापयती कम कम साधयति मन्तिकम् वेदाविनाशिनम् नित्यम् यादेनामग्रयम् कथम् स गुरुयापात गङ्गातयति अविनाशिनम नित्यम अजम अव्यय वेद जो इसे अपना है कहता है अविनाशी है मन अविनाशी है नित्य है अजय है अव्यय है एनम वेद एनम आत्मा